छोटे से छोटा है तो वो बड़े से बड़ा है तो वो इसका मतलब है कि जो छोटे के रूप में मालूम पड़ता है और जो बड़े के रूप में मालूम पड़ता है तो जैसे सपने में चीटी मालूम करे तो वो भी अपना स्वरूप है और हाथी मालूम करे तो वो भी अपना स्वरूप है क्योंकि हम खुद ही चीटी और हाथी दोनों के रूप में मालूम पड़ रहे हैं इस प्रकार जागृत अवस्था में एक क्षण मालूम पड़ता है वो भी मैं है ना और एक पहाड़ मालूम पड़ता है तो भी मालूम हाँ। ये जितने चोर चमार झूठे सच्चे हैं ना ईमानदार बेईमान शत्रु मित्र है ना सबके सच्चे जो कुछ शासन कर सकते वो सब अपना स्वरूप ही है परंतु सब परमात्मा है इसका दर्शन सबके लिए संभव नहीं है सब वही है परंतु उसको देख पाना सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि उसको वो देख पाता है जो स्वार्थी कम है स्वार्थी स्वार्थी ये निशान शब्द का अक्रतु शब्द का प्रयोग है ना अक्रतु मैंने घूम फिर के नजर अपने मोन से लकड़ी पर ही आई वो तमक कहते हो पश्यति गीत शोको अक्रतु माने निष्काम अक्रतु शब्द का अर्थ किया शंकराचार्य भगवान ने निष्काम ये संसार में सत्य के तो विपरीत ले जाने वाली कोई वस्तु है तो कामना है आदमी झूठ क्यों बोलता है दुनिया में तो सोचता है कि इससे हमारे मन के अगर सच बोलेंगे तो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होगा हम जो खाना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा हम जो इकट्ठा करना चाहते हैं सो तो नहीं होगा हम जो भोगना चाहते हैं सो तो नहीं होगा अपनी कामना पर जब चोट पड़ती दिखती है तब आदमी ईमानदारी से और सत्य से विचलित हो जाता है एक बहुत पुरानी पुस्तक है संस्कृत भाषा में दो हजार वर्ष से भी पुराने हैं वो कथा कर सागर उतरा ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी है उसमें संस्कृत में है अब तो उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया सब गया और बरसों तक तो, तो हम बचपन में हमारे पितामा हम जब तो बच्चे थे तो जैसे नानी की कहानी सुनाते हैं ना वैसे कथा सर सागर सुनाया करते उनको तो सब जबान पर था ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते थे दो मित्र यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पड़ा बड़ा भारी जंगल कैसे रात बिताना शेर थे वहां बहुत तो दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो दोनों ने ये तय किया कि सो जाए बारी बारी से ये हुआ कि एक की गोद में फिर रखे एक बैठे और एक गोद में फिर रखे और फिर पड़े खोला तो जब एक सो गया है तो नीचे आया थे उसने जगते हुए से कहा कि देख जो तेरी गोद में से रख के सोया है ये तेरा दुश्मन है इसको तो ढकेल के नीचे मैं खा जाऊंगा पूरा तो मेरे विश्वास पर सो रहा है बोले तुमको बड़ा धोखा देगा तो बोला कि धोखा देगा तो हमारा मित्र देगा ना तुमको नहीं दोगे अपने मित्र के हाथ से धोखा खाना अच्छा है ये मारेगा मरेंगे और हम तुम्हारे हाथ से मरने को राजी नहीं है बहुत तो बढ़िया है तो उसने तो नहीं झकेला और जब दूसरे की गाड़ी आई ना दूसरा जगह और बैठा तो फिर शेर ने वही बात कही कि वो तुम्हारा दुश्मन है अब वो आ गया शेर की बातों में उसने अपने मित्र को नीचे धकेल दिया नीचे धकेलते ही जगह और जग के देखा शेर सामने खड़ा तो पागल तरीका हो गया ये तो बचपन की कहानी आपको सुना जब शेर खाने चला तो उसने कहा कि सर हाँ, हाँ, सुना मत समझो अब हम तुम्हारे छूने लायक नहीं जब हमारे मित्र ने हमारे साथ द्रोह किया अब मैं जिंदा कहा हूं एकदम मुर्दा हूं सुना नहीं फिर भी छिटक गए तो वाचा विचरितम जेना सुप्रतम तेरा हारितम वादा करके चल गया हमारा मित्र हमारी रक्षा का है ना वाल अकर काल गया तो उसके सारे पुण्य जल गए है ना और मेरे मित्र के पुण्य जल गए तो मेरे पुण्य भी जल गए अब मैं किसी काम का नहीं छोड़ने छोड़ दिया उसको फिर वो पागल हो गया तो कैसे कैसे वो अच्छा हुआ बड़ी विचित्र कथा है शेर कहता था कि हम तुमको ये खजाना दे देंगे तुम अपना मित्र हमको दे दो हम तुमको ये खजाना दे देंगे बड़ी विलक्षण तो संसार में मनुष्य व्यभिचार क्यों करता है तो कामना के वश होके चोरी क्यों करता है कामना के वश होके हिंसा क्यों करता है कामना के वश होके संसार में मोह क्यों करता है कामना के वश होके लोही क्यों होता है कामना के वश होके और जो कामना के वश में हो गया उसकी पीठ ईश्वर की ओर हो गई और मोह संसार की ओर हो गया है ना वो तो छोटी छोटी चीज को पकड़ के बैठा है क्या जाने ईश्वर क्या जाने परमेश्वर आसीनो धूरम बजती नारायण तो अकाम अकाम पुरुष जो होता है दृष्ट अदृष्ट संपूर्ण वाद्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम हो गई है स्वर्ग चाहिए उसको परमात्मा नहीं मिलता ब्रह्मलोक चाहिए उसको भी परमात्मा नहीं मिलता बोला और राजभोग जिसको चाहिए उसको भी परमात्मा नहीं मिलता ऐसा समझो कि परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है वो मौत में से गुजरता है तो ये नचिकेता जो है ना ये परमात्मा के पास पहुंचने के लिए मृत्यु के रास्ते से गुजर रहा है अब वो मौत की मृत्यु के पथ पर है इसके बाद क्या है तो परमात्मा है इसके बाद अगर कोई वस्तु है तो परमात्मा है मृत्यु के रास्ते गुजर रहा है तो कामान जब कामयते मन्यमान सकाम अभिर जायते तत्र तत्र जिसको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए है ना दुनिया की छोटी छोटी चीजों में शरीर का तो कुछ ठिकाना नहीं आज रहे कल नहीं रहे है ना धर्म को भी अपना साथी नहीं रखते हैं ईमान को भी अपना साथी नहीं रखते हैं ईश्वर को भी अपना साथी नहीं रखते हैं है? जब तुम्हारे साथ धर्म भी नहीं ईमान भी नहीं ईश्वर भी नहीं उसकी ओर से पीठ फेर लिया तो ये क्या दुनिया के रिश्तेदार जाएंगे तुम्हारे साथ ये दुनिया की के पैसे जाएंगे तुम्हारे साथ ये कुर्सियां जाएंगी साथ उठा के हाँ, वहाँ भी मिनिस्टर हो जाना नारायण हाँ परलोक में जाके मिनिस्टर हो जाना यहाँ जो अपनी धर्म अपना धर्म अपनी ईमान अपना ईश्वर छोड़ देगा परलोक में उसका साथी कौन है मर गया वो तो, तो दृष्ट और अदृष्ट माने परलोक दोनों प्रकार के बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि उपराम है उसके क्या होता है तो धातु प्रसादा इंद्रियां निर्मल हो जाते हैं मन निर्मल हो जाता है अंतकरण निर्मल हो जाता है प्रसन्न होना माने निर्मल होना विषय की आकांक्षा नहीं रहना और तब वो देखता है कि आत्मा स्वरूप क्या विलक्षण है पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख आना जाना सबसे विलक्षण परंतु जब तक कामना होगी ना एक बार महात्माओं में ये बड़ा प्रश्न उठाता हो अब अब तो हमारा संपर्क जरा टूट गया ना ये लोगों से संप्रदायवादियों से और तो पाप जो है प्रारब्ध से होता है कि ईश्वर की प्रेरणा से होता है कि मनुष्य के करने से होता है आखिर ये पाप के संकल्प कहाँ से आते हैं और मैं तो सब छोड़ आया ना तो देखो प्रारब्ध तो पाप का फल है पुण्य का फल है प्रारब्ध पाप का फल है तो फल जो होता है वो तो केवल भोग पर्यवसायी होता है प्रारब्ध सुख या दुख रूप भोग दे सकता है प्रारब्ध से पुण्य नहीं होता प्रारब्ध से पाप भी नहीं होता अच्छा कहो कि ईश्वर पाप पूर्ण करवाता है हाँ। तो ईश्वर को क्या गरज है कि किसी से पाप करवा के उसको नरक में भेजे कोई किसी से दुश्मनी है तो ईश्वर किसी से पाप नहीं करवाता और प्रारब्ध तो पाप नहीं करवाता नहीं पाप का फल देता है दुख देता है प्रारब्ध से दुख मिलता है प्रारब्ध से सुख मिलता है ये ठीक है पर प्रारब्ध से कोई झूठ बोलता होगा हाँ अगर तुम्हें कोई झूठ बोले और कहे कि प्रारब्ध बस झूठ बोल गया है तो कहना कि मूर्ख हो तुम जानते नहीं कि प्रारब्ध क्या होता है प्रारब्ध से झूठ नहीं बोला जाता प्रारब्ध से दुखी हुआ जाता है दुख होता है प्रारब्ध से ये ठीक है परंतु मैं दुखी हूँ ये अभिमान मूर्खता से होता है अगर आत्मज्ञान हो कि मैं दुखी नहीं हूँ तो प्रारब्ध दुख दुख देता देता प्रारब्ध ही मर जाए परंतु हमको दुख नहीं हो सकता तो दुख भेजना प्रारब्ध का काम है सुख भेजना प्रारब्ध का काम है पाप भेजना नहीं और ईश्वर का काम भी पाप भेजना नहीं है तो बोले हम करते हैं कैसे हम करते हैं पाप तो क्यों करते हैं है? उसका प्रेरक कौन है बोले केवल विषयाशक्ति प्रेरक है भिखारी ने पूछा दादा चार पैसा दे दे बोले ज्यादा नहीं देंगे कर बाबा दे दे का है ही नहीं हमारे पास का है ही नहीं हमारे पास ये क्यों बोला है बोले धन से आ सकती है तो कामना इसी को काम बोलते हैं वो काम कामना क्या है महाराज तो काम ये सब क्रोध है ये सब रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा नहीं अन्य वैगम तुम्हारा दुश्मन कौन है काम तुम्हारा दुश्मन कौन है क्रोध है ना ये महासन है महापाप है ये तुम्हारा शत्रु है पाप ही करवाता है पाप हाँ। का बाप कौन है कामना तो जब तुम पाप के मार्ग में चल पड़े तो ईश्वर की ओर पीठ हो गई अब ईश्वर को नहीं देख सकते ईश्वर कब दिखता है अगर धातु आप पीछे की तरह अंतकरण निर्मल हो जाता है जला जल जला जल जला जल क्या देखता है देखो तो ईश्वर पाप नहीं कराता प्रारब्ध से प्रारब्ध तो फल रूप है वो तो पाप करा ही नहीं सकता केवल आसक्ति जो है भोग में है ना तो बल हमको भोग में आसक्ति नहीं है तक तुमको आदत पड़ी हुई है एक साधु था तो वो रात को जब सब साधु छोड़ सो जाते ना तो उनका कमंडल उनके पास उनका कमंडल उनके पास उनका दंड उनके पास ऐसे रखते थे तो एक दिन पकड़ा गया तो लोगों ने कहा कि महात्मा तो रोज महात्माओं में झगड़ा हो कि तुमने हमारा कमंडल चुरा लिया तुमने हमारा दंड ले लिया साधु लड़े महाराज आपस में तो एक दिन पकड़ा अरे तुम ये क्या करते हो बोले तो देखो महाराज हम पहले चोर से चोरी करते थे तो अब जब से साधु हुए तब से चोरी तो छोड़ दी लेकिन चोरी तो छूट गई लेकिन तुम्बा फेरी नहीं छूटी अभी है ना तो चुराता तो मैं कुछ नहीं हूँ लेता किसी का कुछ नहीं तो आदत बिगड़ गई बोला जिसकी आदत बिगड़ जाती है ना तो कामना न हो भोग की इच्छा न होने पर भी वो तुम्बा फेरी करता है तो सिवाय आसक्ति के परमात्मा के दर्शन में और कोई बाधक नहीं है है ना लोग कहते हैं हमारे पुत्राशक्ति नहीं है कि तो भाई हमारे धनासक्ति नहीं है है ना हमारे भोगासक्ति नहीं है तो कभी कभी बहुत मजा आता है क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि आसक्ति क्या है तो सिवाय आसक्ति छोड़ने के दूसरा कोई मार्ग परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है इससे हमारी इंद्रियां निर्मल होती हैं अंतकरण निर्मल होता है परमात्मा के दर्शन की योग्यता आती है और परमात्मा का स्वरूप क्या है कप्तार पूर्णिया राग द्वेष सुख दुख आना जाना परिच्छिता सब जिसमें कट जाते हैं स्वभाव परमात्मा के स्वरूप के संबंध में पूरा विचार करें जमराज तो ललकार के बोलता है कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो मरती आसीनो दूरम रजदी शयानो जाति सर्वतः कास्थाम् मदन्यो आसीनो दूरम व्रजती ये महाते ऐसे हैं कि बैठे रहते हैं और दूर चले जाते हैं आसीनो दूरम व्रजते देखो शयानो याति सर्वता बोले ऐसा सो जाते होंगे साहब बोले अरे तब तो सर्वत व्यापक हो जाते हैं ये क्या पहेली है कि देखो आप बैठे रहते हैं और आपकी आंख सड़क पर चली आती है तो आंख जहाँ है वहीं रहती है कि सचमुच सड़क पर चलने जाती है कहते ना आंख गई ये दुनियादार लोग जो हैं ये टेढ़े होते हैं वो इनकी बात देखो ये सड़क कहाँ जाती है बोलो तो सड़क तो जाती नहीं है पर बोलते हैं कि सड़क जाती है सड़क तो अपनी जगह पर रहती है अरे जो गाड़ी होगी तो चलेगी नहीं और जो चलेगी तो गाड़ी नहीं होगी ये तो बात बिल्कुल पक्की है ना भाषा उल्टी बोलते हैं गाड़ी को चलती कहें पके दूध को खोया रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया है देखो आपने ईसावाद के उपनिषद का पाठ बहुत किया है खास करके प्रेम कुटी में तो रोज ही सकता है सद्भाव तो अन्यान अत्येती तिष्ठा वो खुद एक जगह खड़ा है ना एक जगह से और संपूर्ण दौड़ने वाले जो दूसरे हैं उनका अतिक्रमण किए हुए है ये रहेगा और दौड़ने वालों से आगे है क्या मजा है तो बोले मन यहाँ से चला बोले विराज पहुंचा तो यहाँ परमात्मा को हाथ जोड़ा कि हे भगवान तुम तो हमारे अंतर्जामी यहाँ हृदय में बैठे हो हमारे प्रेरक हो प्रकाशक हो अब जरा हम विलायत जाते हैं और जोरो पहुंचा मेरा वहाँ गया तो वहाँ देखता है तो परमात्मा पहले से मौजूद है अरे महाराज नमस्कार नमस्ते नमस्ते बोल दिया आप कब पधार गए बोले अरे भाई मैं तुमसे पहले यहाँ पहुँच गया तो देखो आत्मा यहाँ भी है और वहाँ भी है आप तीनों दूरम ब्रजते तो कहो कि वो प्लेन से गया ट्रेन से गया ट्रेन से गया परमात्मा वहाँ कि जैसे आकाश को जाना नहीं पड़ता वहाँ पहले से मौजूद है ऐसी परमात्मा सब जगह पहले से मौजूद है आसीनो दूरम प्रगति तो देखो हमारी आंख चली गई कहा और सड़क पर अब महाराज कोई यार समाजी सज्जन थे और वो तुम्हारा तो शीशा लेके आके सामने खड़े हो गए हमारे शीशा दिखाने लगे लेकिन क्यों झूठ बोलते हो तो क्या झूठ बोलते हैं तुम झूठ बोलते हो कि हमारी आँख सड़क पर चली है ये देखो तुम्हारी आँख शीशे में देख लो हाँ? तुम्हारी आँख तो जहाँ की कहाँ है आँख चल के तो नहीं गई ना सड़क पर हाँ, दूर दूरम ब्रजती अपनी जगह पर रह के ही तो आँख सड़क को तो देखती है अच्छा देखो आपके कैमरे ने क्या कमाल किया चंद्रमा का फोटो ले लिया सूर्य का फोटो ले लिया तो कैमरा गया था सूर्य लोक में चंद्र लोक में गया था कैमरा अपनी जगह पर रह के ही तो फोटो लेता है ना तो असल में ये आत्मदेव ज्यो के त्यों अपनी जगह पर रहते हैं आख की शक्लें बदलती हैं मन की शक्लें बदलती हैं और मन में आंख में होने के कारण उनकी सब स्थितियों को ये अपनी समझते हैं तो मन में जो गति का भान है नेत्र में जो गति का भान है ना नासिका में जो गति का भान है ये जैसे देखो अरे भाई नाक तो गुलाब के गंध में चली गई आप सब जानते जानते ही हैं आप कि नाक जाती नहीं नाक तो जहाँ के कहा रहती है नाक चली जाए तो कट जाए नाक कटती नाक जहाँ की कहा रहती है गंध की ओर वृत्ति का खिंच जाना ये नाक का जाना है तो दूरम प्रगति का अर्थ ये है कि आत्मदेव अपनी जगह बैठे हैं ये वृत्ति खिंच गई ये वृत्ति खिंच गई ये वृत्ति खिंच गई आसीनो दूरम ब्रजती शयानो जाति सर्वतः और एक और मानक शयानो जाति सर्वता जब इंद्रियां सो जाती हैं आंख सो जाती है कान सो जाता है नाक जी सो जाती है त्वचा सो जाती है मन सो जाता है तभी आत्मदेव जो है वो इन इन इंद्रियों से तादाद में जो जाने आने का तादाद में है ना वो छोड़ देते हैं तो तब क्या बोलते हैं शयान हो जाते हैं शयान मान सोए तब तो सामान्य ज्ञान से एक हो गए ज्ञान है परंतु किसी विशेष आकार में नहीं है तो सामान्य विज्ञान रूप होने से जैसे सामान्य विज्ञान सर्वव्यापी है न शब्द है न स्पर्श है न रूप है न रस है न गंध है न अभाव है तो आजकल तो विद्या तो पढ़ते हैं वो ना जिससे इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने क्योंकि पैसा तो उसी में मिलता है व्यापारी बने ये विद्या संस्कृत भाषा जो लोग पढ़ते हैं ना उनको जैसे पहली किताब दूसरी किताब जैसे हिंदी में पढ़ाई जाती है ना ऐसे संस्कृत की जो पहली किताब पढ़ाई जाती है दूसरी किताब पढ़ाई जाती है उसमें ये बात पढ़ाई जाती है तो, तर्क संग्रह पढ़ो तर्क संग्रह माने बच्चों की किताब वेदांत परिभाषा पढ़ो अर्थ संग्रह पढ़ो छोटी छोटी किताब सुना बड़ी हमको वो याद इसी क्यों ये बात याद आए हमको याद है एक बार हम काशी विश्वविद्यालय जा रहे हैं वहाँ शास्त्रार्थ होने वाला था कोई तो एक पंडित राजेश्वर शास्त्री हैं काशी में बहुत बड़े विद्वान हैं उनको तो पंडित राज राज बोलते हैं ऐसे तो वो बैठे थे इक्के पर और एक ग्यारह बरस का बच्चा उनके साथ बैठा था वो बातचीत उससे करते जा रहे मैं भी उस आगे पर बैठा इक्के पर बैठा मैं भी सुन रहा था उसी इक्के पर मैं भी था तो उससे उन्होंने पूछा कि बेटा शास्त्रार्थ में बोलेगा संस्कृत में हो तो बोला कि हाँ बोलेंगे हम शास्त्रार्थ करेंगे ग्यारह मदद का लड़का हम शास्त्रार्थ करेंगे कहता तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो पूछो उन्होंने पूछा कि अच्छा सुषुप्ति काल में ज्ञान का अभाव हो जाता है कि नहीं ज्ञान का अभाव होता है कि नहीं तो बच्चे ने कहा हो जाता है ग्यारह तरफ का बालक था ज्ञान का अभाव हो जाता है तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटे ज्ञान का अभाव हो जाता है सुसुप्ति में तो अब सुसुप्ति की याद कैसे आती है अगर सुसुप्ति का ज्ञान हुआ ही नहीं तो उसकी याद कैसे आवेगी तो वो बोला कि चाचा जी मैं ज्ञान का अभाव जो बोलता हूँ उसका अभिप्राय अत्यंता भाव से नहीं है विशेषा भाव से है, <clears throat> हैं? उस समय ज्ञान ज्ञान विशेष का अभाव हो जाता है ज्ञान विशेष का माने शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान स्पर्श ज्ञान है ना ये जो अलग अलग चीजों का अलग अलग ज्ञान जागृत दशा में होता है इसका अभाव हो जाता है ज्ञान सामान्य का अभाव सुसुप्ति में नहीं होता ज्ञान विशेष का अभाव सुसुप्ति में होता है ज्ञान अभाव नहीं होता ज्ञान विशेष अभाव होता है बोले सादा आश्रय थे जब शास्त्रार्थ बैठाने के तुमको <laughs> ये अक्कल आनी चाहिए ये विचार विचार में विचार में अक्कल की जरूरत पड़ती है जहाँ कोई अड़चन आती है वहाँ बुद्धि नया मार्ग निकालती है उसको प्रतिभा बोलते हैं नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा अब देखो ज्ञान विशेष सुसुप्ति काल में ज्ञान विशेष नहीं रहता ज्ञान सामान्य रहता है नैयायिक का विद्यार्थी था न्याय शास्त्र में जाके बैठ गया शास्त्र गद्दी पर बैठ गया ललकार दिया आजा हमसे कर लो शास्त्र ये हमारे साथ जो स्वामी प्रज्ञानानंद जी है ना प्रज्ञानंद जी अभी वृंदावन में रहते हैं हाँ। तो ये काशी के ही ब्राह्मण है गौड़ ब्राह्मण है काशी के तो इनको संहिता याद थी माने जब बचपन में पढ़ते थे तो वेद की पूरी संहिता इनको कंटक थे हाँ। तो ललकार देते थे कि आओ हमारे साथ पाठ करो कोई जटा पाठ करो घट घन पाठ करो पर पाठ करो है ना तो ज्ञान विशेष का अभाव सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव नहीं होता ज्ञान सामान्य का अभाव नहीं होता ज्ञान विशेष का अभाव होता है माने ये स्त्री है ये पुत्र है ये धन है ये शरीर है ये मकान है ये सब अलग अलग चीजें जो भागती हैं वो सब नहीं भागती परंतु ज्ञान रहता है ज्ञान न रहे तो उठने पर सुसुप्ति की याद ही ना आ किसी को वो ज्ञान क्या है बोले सयानो सर बता वो विशेष रूप न होने के कारण सर्वव्यापी है तो भाई वो आनंद रूप है कि नहीं है वो ज्ञान रूप है कि नहीं है तो कस्तम मदामदम देवम देखो संसार का जो आनंद है वो उसमें नहीं है और वो स्वयं आनंद स्वरूप है भाष्य में जो अर्थ है वो ठीक है बोला मैं जो श्लोक पर आरोप कर रहा हूँ अर्थ उसको ध्यान रख कस्तम मदा मदन देवम आनंद दो तरह का होता है एक एक विषय के साथ संबंध करने पर होता है और एक बिना विषय के संबंध के होता है देखो भोगियों को आनंद होता है कि हमारे पास कितनी बढ़िया मोटर है है ना? उनको यह आनंद होता है हमारी पत्नी कितनी सुंदर है हमारा बैंक बैलेंस कितना है तो कुछ होने तो मजा आवे एक मजा वो तो हम केवल समझाने के लिए बात कहते हैं ना अमुक चीज हम हमारी नाक कितनी बढ़िया है शीशा में देख देख के मुख धो रहे हैं हमारे बाल कैसे रहे हैं है ना हमारी चमड़ी कितनी चिकनी है है ना तो चलो ये कुछ है तब अपने में बड़प्पन का काल होता है मद होता है आनंद आता है एक सौ छब्बीस प्रकार के मद होते हैं उनमें से एक इस बात का भी मद होता है कि हमारी पत्नी सबसे सुंदर है इस शास्त्र में ऐसे लिखा है हाँ भाव प्रकाशन एक ग्रंथ है शास्त्र में इस तरीके का नहीं आयुर्वेद वाला भाव प्रकाश नहीं भाव प्रकाशन पुराना शारदातन लिखा तो उसने बताया कि इस बात का भी लोगों को अभिमान होता है कि हमारी पत्नी सबसे सुंदर है उसका उत्तमांगना परिश्वंग जन्य मर्द तो एक मर्द वो होता है हाँ। एक मर्द वो होता है जो बाहर की वस्तु होने के कारण अपने में नशा आ जाता है हमको क्या समझते हो और एक नशा वो होता है नारायण जब चाहे जब नारायण हटकार दिया हो जब लंगोटी कमंडल अपने पास है तो क्या होती है दुनिया देखो हुँ? हम्म? ये साधु का मद है ये साधु का मद है क्या हमारे पास कुछ नहीं है हमारी बराबर का और दूसरा कौन साधु है एक त्याग का मद होता है एक विदा का एक संग्रह का मद होता है तो ये आत्मदेव जो हैं इनमें त्याग और संग्रह का मद जैसा होता है वैसा नहीं है वो इसलिए तो वो अमद है भला अमद है वो कि मद कब होता है जब भांग पीते हैं जब गांजा पीते हैं जब अफीम खाते हैं है ना जब शराब पीते हैं जब मद होता है ये उधार मजा लेकर के माने बाहर का मजा अपने शरीर शरीर के भीतर घुसे करके है ना तब कहते हैं कि अब मजा वाले ये सर्वत्र नशा नशा कहते हैं ना मद मद का रुपए का मद है एक आदमी को हमने 25-30 बरस पहले भी देखा है बड़ा सरल विनय और पांच दस बरस पहले भी देखा वो महाराज एक आंख से तो बिल्कुल आसमान ही देखता था हाँ दोनों आंख से सीधे नहीं देखता था वो जो रास्ते में चलता है मैंने देखा डंडा हाथ में मैंने छड़ी हाथ में और एक आंख से मेरी तरफ देखो आपका पता चलेगा ना एक देखता हुआ चलता था है ना एक आंख बिल्कुल सीधी आसमान में रखता था धरती पर रखता नहीं ऐसा देखा करोड़पति मैंने उसको मैंने जब पच्चीस हजार रूपए थे जब भी देखा था जब करोड़पति हो गया जब भी देखा अपनी बराबर और पैसे के नोट के बल पर अपने बराबर किसी को न समझे हो हे भगवान तो ये उधार लिया हुआ नशा होता है एक है ना तो परमात्मा कैसा है तो उसको उधार का नशा नहीं है बोला अमदम अमदम माने हर्षा सृष्टि बने चाहे सृष्टि बिगड़े चाहे सृष्टि रहे है ना उसको कोई नशा इसका कोई आदेश कोई अभिनिवेश सृष्टि का नहीं है तब बोले तो उसमें कोई मद है ही नहीं है मद उसमें उधार लिया हुआ नहीं है हाँ, स्वरूप मद है हो ऐसा मत है जो कभी उतर ऐसा नशा जो कभी चढ़ा नहीं जो कभी उतरता नहीं जो किसी से उधार लिया गया नहीं जो सारी सृष्टि उसमें आ गए तो समा जाए और न आए तो उसकी जरूरत न मालूम पड़े मदा मदानदम देगा ये ऐसे वर्णन करते हैं देखो वाचस्पति मित्र ने परमेश्वर का क्या बढ़िया वर्णन किया है तो ब्रह्म का वर्णन पर ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो बोले आदमी जो सो जाता है तो नाक में जरा घरघर होती है ना घरघराहट बोले ये वेद क्या है कि जब परमात्मा नींद लेता है ना तो उसकी सांस की जो घरघराहट है उसका नाम वेद है बोले उसमें से अर्थ कहीं निकलता है बोला बोले अर्थ की तो लोग कल्पना कर रहे हैं कोई वो साफ थोड़ी बता दिए कि हमारा ये अर्थ है हाँ। हमने एक आदमी को ऐसे भी देखा है सांस लेते वो बिल्कुल नींद में सोने में हाँ। तो एक दिन कोई ऐसा प्रसंग पड़ा अपने यहाँ बहुत मेहमान घर पे आ गए थे नारायण तो वो रात को लोग सत्संग के लिए आते थे बहुत आते थे तो कभी दस पांच आदमी आ गए और खाद जितनी थी सब खत्म हो गई हाँ। और मैंने कहा था अच्छा, देर से आओ आओ तुम हमारे खाद पर सो हमारे साथ सो गया अभी इन लोगों ने देखा था उसको कई बार मिला था गाय था नारायण चंद्रशेखर नाम था उसका सब लोगों से मिलजुल गए अभी इसी साल पिछले साल मृत्यु हुई उसकी जब नींद में आ गया तो उसकी नाक से जो सांस निकलती थी ना उसमें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सांस में से आवाज निकलते थे हमारे एक मित्र एक बार हमारे दरवाजे पर घोड़े से गिर गए और आए थे जांच करने के लिए कि मर्दों सुमारी सन इक्कीस तीस के करीब कोई हुई होगी मैं समझता हूँ तो <clears throat> तो नंबर दिखा दिए थे दरवाजे पर थे कांग्रेस के कहने से गांधी जी के हुक्म से नंबर मिटा दिए गए थे तो जो जो जिन जिन ने मिटाया था उनकी सजा होती थी तो एक दृष्टि कलेक्टर और वो हमारे मित्र दोनों आए जांच करने और हमसे पूछ रहे थे कि नंबर किसने मिटाया क्या हुआ क्या हुआ उसी समय उनका घोड़ा खड़ा हुआ और गिर पड़े गिर पड़े तो बेहोश हो गए छह घंटे बेहोश रहे फिर हमारे मित्र बोला छह घंटे की बेहोशी में मैं उनके पास बैठा था लगातार जब बीच बीच में वो बड़े जोर से उछलते थे ऊपर को लेटे लेटे समूचा शरीर ऊपर को जाता तो उनके मुंह से क्या निकलता हरि ओम तस्त हरि ओम तस्त अरे बाबा अभ्यास बनाना हो तो ऐसा तो सांस की घरघराहट का नाम वेद है ना निष्वसित मत देना प्रार्थनी ग्राहक खुल के तो सुन के आंख खुल गई मानो परमात्मा की तो देखा है दीक्षित ले सकते तो क्या देखता है कि पांचों भूत सामने खड़े हैं फिर हंसी आ गई तो जब हंस दिया हो मुस्कुराहट आ गई ना इतने प्राणी बन गए साथ के साथ फिर आया अरे ये क्या तमाशा है नींद लो आराम से फिर आंख बंद कर ली तो सृष्टि मिट गई हाँ। नाक की घबराहट का नाम वेद आंख खुलने का नाम पंचभूत मुस्कुराहट का नाम चौरासी रात लोनिया और आंख बंद कर लेने का नाम प्रलय क्या बढ़िया परमेश्वर का वर्णन है व्यक्ति विशेष का वर्णन हो रही है हाँ। तो परमात्मा का स्मित और परमात्मा का अस्मित क्या है ये मुस्कान है उसकी मुस्कान में सृष्टि बनती है मदा अमदम देवम देव माने स्वयं प्रकाश अब देखो कहीं जाना हो दर्शन करने भगवान का एक कांची में एक त्रिविक्रम का मंदिर है आप लोग कभी कांची गए हों कोई विष्णु कांची में त्रिविक्रम का मंदिर है वो इतनी बड़ी मूर्ति है भगवान की कि ऐसा नहीं देखती हो मसाल जला के बांस में बांध के और ऊपर उसको खाना पड़ता इतनी बड़ी लंबी है कि बांस में मसाल बांध के दिखावे ऊपर करके तब ऊपर वाला मुंह दिखता है इतनी लंबी है बड़ी लंबी गाँव परमात्मा का दर्शन करने चले तो कोई मसाल लेके चलना पड़ेगा लालटेन का अर्थ है मसाल देवम देवम का अर्थ स्वयं प्रकाश उसको देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं चाहिए नाश की न कान की न नाश की न जीव की न मन की न बुद्धि की वो दूसरे की रोशनी में रोशन नहीं होता उसकी रोशनी से सब रोशन होते हैं वो दूसरे के प्रकाश में स्वयं नहीं दिखता उसके प्रकाश में सब दिख रहे हैं ये जो जिज्ञासु को परमात्मा का दर्शन जल्दी नहीं होता इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि वो बहुत लोग तो अपनी आंखें की रोशनी में भगवान को देखना चाहते हैं कई लोग दिया जला के देखना चाहते हैं कई लोग मन की रोशनी में भगवान को देखना चाहते हैं अरे बाबा जिसकी रोशनी में मन दिख रहा है उसको तो देखो तो अपने को ही तो देखो देवम माने स्वयं प्रकाश मदा मदम का अर्थ है जो है तो मद स्वरूप परंतु जिसका मद उधार लिया हुआ नहीं है जो है तो आनंद स्वरूप है यस्य आनंद से मात्रा जीवंती तो ये जितने भूत हैं अन्य भूतानी यस्य आनंद से मात्रा जीवंती सृष्टि के सब प्राणी जिसके आनंद की एक मात्रा का एक एक मात्रा लेकर के उज्जीवित हो रहे हैं जिसके ज्ञान की एक मात्रा के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं आज जरा छाती ठोंक के बात कह रही बोला क्या ऐसा जो परमात्मा है स्वयं प्रकाश स्वयं आनंद स्वयं सत स्वयं चित स्वयं आनंद जिसकी सत्ता किसी सत्ता में आकार रूप नहीं है जिसका ज्ञान किसी ज्ञान से प्रकाशित नहीं है जिसका आनंद विषयापेक्ष नहीं है ऐसा जो स्वयं सत स्वयं चित स्वयं राष्ट्र एक रस निर्विकार वस्तु है प्रत्यक्ष चैतन्य अपना आत्मा ये कौन है ऐसा मेरे सिवाय मदन्यों क्या तो मर रखे कौन है ऐसा मेरे सिवाय दूसरा जो उसको जानना जानने योग्य है जानने का अधिकारी है मेरे सिवाय कौन उसको जान सकता है आप सब लोग इसको बोलो है ना अपने मन में इस बात को वो तो बैठा हुआ भीतर है बता कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम रहते मैंने मैं ही मैं को जान सकता हूँ मेरे सिवाय मेरे मैं को और कौन जानेगा पहले मृत्यु मृत्यु रूप हो जाओ संपूर्ण दृश्य प्रपंच का निषेध कर दो और निषेधावधि शेष से वर्तमान तुम यम है ना मृत्यु और बोलो कि मेरे सिवाय मैं को और कौन जानेगा है ना ऐसे स्वयं प्रकाश स्वयं आनंद स्वयं सत इस स्वयं प्रकाश परमात्मा देव को मेरे सिवाय और कौन जानेगा अच्छा आप छोटी बात हाँ कहना है ना बोले भाई जो अपने को जा, ब्रह्म जान लेता है वो अपने को ब्रह्म नहीं कहता है तो तब तो क्या अपने को कीड़ा कहता है तो एक महात्मा से किसी ने कहा कि तुम अपने को ब्रह्म क्यों कहते हो तो उन्होंने कहा तुम अपने को मनुष्य क्यों कहते हो बोले हम मनुष्य हैं इसलिए अपने को मनुष्य कहते हैं बोले हम ब्रह्म हैं इसलिए हम अपने को ब्रह्म कहते हैं तो लेकिन तुम ब्रह्म कैसे हो तुम तो जीव हो तो बोले कि तुम मनुष्य कैसे हो तुम तो हिंदू हो तो हिंदू भाव तो मनुष्य में कल्पित है बोले तो जीव भाव ब्रह्म में कल्पित है ब्राह्मण मनुष्य है कि नहीं हिंदू मनुष्य है कि नहीं आप तो ये ना जैसे मनुष्य अपने को जो मनुष्य जानता है वो अपने को मनुष्य कहता है वैसे अपने को जो ब्रह्म जानता है वो अपने को ब्रह्म कहता है देखो ज्ञानी नहीं होता ब्रह्म होता है एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया तो ज्ञान का जो प्रयोजन था ना वो पूरा हो गया ज्ञान अज्ञान दोनों ही कट गए ज्ञान अज्ञान दोनों जिस जिसमें जैसे अज्ञान कल्पित था बिना हुए ही वैसे जिसमें ज्ञान कल्पित हुआ बिना हुए ही हैं और अन हुए तो एक आदमी ऐसे कल्पना करो एक आदमी देख डंडा दौड़ा अरे क्या करते हो तो बोला हो हाँ, हम नहीं जानते हम वो पीपल में जो रहता है ना वो भूत है, है? हम तो तुम्हें मारने के लिए आए हैं पीपल वाले भूत हैं ऐसे बोला अब दूसरा आदमी पहले तो घबराया हो लेकिन पीछे क्या किया कि एक पत्थर पड़ा तो उठाया और बोला कि मैं हनुमान हूँ क्या समझते हो तुम है ना हम आज तुम्हारा साथ है ना तो भूत बना आज चकना चूर करके छोड़े अब उधर से आया भूत और उधर से आए हनुमान अब हनुमान जी तगड़े पड़े भूत बात अब वो सावधान हो गया हाथ जोड़ने लगा महाराज कृपा करो माफ करो माफ करो बोले कहा है भूत बोले भूत तो कहा गया महाराज चलो तो हमारे हनुमान जी भी जाते हैं वो तो भूत को भगाने के लिए हनुमान जी आए थे बोला न भूत आया था न हनुमान जी आए थे बोला वो तो दोनों भावावेश था तो ये असल में अज्ञान जो है वो भूत है बोला और ज्ञान जो है वो हनुमान जी है बोला और ये दोनों भावावेश ही है बोला ये ज्ञान अज्ञान को दूर करके स्वयं का और और ब्रह्म परमात्मा का ज्यो का क्यों कस्तम मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति यमराज ने कहा मेरे सिवाय और कोई ऐसा नहीं है जो इस स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म की उपाधियों में तब तक उपाधिवान भाषता है विरुद्ध धर्मवान विश्व रूप चिंतामणि वत अवभाषते जैसे चिंतामणि जो है उससे कहो कि हमको सोना चाहिए तो सोने का खजाना मालूम पड़ेगा उठा लो सोना और वो ज्यो का क्यों बोले हमको चांदी चाहिए तो ज्यो का क्यों हाँ, चांदी ले लो तो चिंतामणि में से हीरे चाहिए वो हीरे ले लो चिंतामणि ज्यो का क्यों इसी प्रकार ये परमात्मा तत्त वासना के अनुरूप तत्त उपाधि के अनुरूप संपूर्ण विश्व के रूप में भाग रहा है पर है ये बिल्कुल चिंता हमारी ये महाभाष्यकार भाष्यकार ने शंकराचार्य भगवान ने यहाँ चिंतामणि शब्द का प्रयोग किया है चिंतामणि बस हाँ, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो चिंतामणि शब्द का प्रयोग करते ही करते हैं हाँ, वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों में चिंतामणि शब्द का प्रयोग ऐसे है जैसे वेदांतियों में रज्जू सर्प चलता है ना रज्जू सर्प जब देखो तब रस्सी और सांप जब देखो तब और रस्सी और सांप अद्वैत संप्रदाय में जैसे वैसे श्री वल्लभ संप्रदाय में चिंतामणिवास काम धैनुवास कल्प वृक्षवास है न ये जो पौराणिक अधिकृत पदार्थ के दृष्टांत है ना उन दृष्टांतों को ग्रहण करते हैं उसको शंकराचार्य भगवान ने यहाँ ग्रहण किया है विश्व रूप युव चिंतामणिवत अवभाग जैसे चिंतामणि सतत मनोरथ की कामना से उसको पूर्ण करने वाला उसका कारण बन करके भासता है इसी प्रकार सतत वासना और तत्त स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध उपाधियों के कारण वही परमात्मा विश्व रूप सरीका मालूम पड़ रहा है मेरे सिवाय उसको और कौन जानेगा तो कैसा है महाराज लो अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचती अरे सारा शोक मिट जाए हो दुख मिटाने का ये राम बाण औषध है यदि तुम चाहो कि मरा हुआ आदमी लौट आवे नहीं लौट सकता बता दुख मिटाने का उपाय मरे हुए आदमी का लौटना नहीं है इस बात को समझ जाओ हाँ, फिर झूठे ही संतोष करना पड़ेगा अच्छा कहो कि दूसरा आदमी हमारे अनुकूल हो जाए तो दो मन दो बीज में से दो संस्कार में से दो मन निकले हैं अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा जमुरा बन करके दुनिया में कोई रहेगा तब हम सुखी होंगे तो पैसा से खरीदा हुआ जमूरा भी जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक तुम्हारा जमुरा रहेगा है ना स्वातंत्र से तुमको अपने जीवन का विकास करना पड़ेगा है ना तो भाई जो है सो बिछुड़ने न पावे है ना ये नहीं हो सकता जो है सो बिछुड़ेगा है ना जो तुम्हारे अनुकूल है वो कभी प्रतिकूल भी होगा जो मर गया है वो लौट के आएगा नहीं और जो तुम चाहते हो वही होगा दुनिया में ये तो ईश्वर का संकल्प ऐसा होता है तो ऐसी ऐसी बातों को कि मरा हुआ लौट जावे है ना सामने वाला जो है वो हमसे बेबसाना न हो है ना सामने वाला हमारा जमूरा हो के रहे है ना ये दुनिया में ये सुखी होने का मार्ग नहीं है ये दुखी होने का मार्ग है हाँ, सुखी होने का मार्ग क्या है अपने हृदय में जो परमेश्वर है और हाँ, अपना आपा उसका ज्ञान उसके स्वरूप को जानना ये आवश्यक होता है और